पहला प्रश्न भगवान 22 तारीख को प्रवचन में एक मूर्ख ने आप पर चाकू फेंक कर आपकी हत्या का असफल प्रयास किया था अनिष्ट न हो सका वह व्यक्ति डॉक्टर मुंशी सिंह की तरह अस्थायी संन्यास लेकर आपके अधिक निकट से कुछ अनिष्ट कर सकता था आपसे प्रेम पूर्वक आग्रह है कि अब संन्यास देना बंद बंद करें अथवा अधिक मुश्किल बनावे ताकि सत्य पर कोई भी प्रहार विफल रहे रामदयाल भारती पहली बात तो यह ख्याल में लेनी जरूरी है कि उस व्यक्ति को मूर्ख मत कहो वह व्यक्ति मूर्छित है मूर्ख नहीं और मूर्छित कौन नहीं है जब तक तुम समाधि को उपलब्ध नहीं हुए हो तब तक मूर्छित ही हो फिर मूर्छा में तुम जो भी करोगे तुम चाहे सोचो कि शुभ कर रहे हो शुभ तुम कर ना सकोगे मूर्छा में शुभ होना असंभव है वैसे ही जैसे अमूर्छा में अशुभ होना असंभव है मूर्छा में अशुभ के कांटे लगते हैं अमूर्छा में शुभ के फूल मूर्ख हम उन्हें कहते हैं जिन्हें जानकारी कम है लेकिन मजा यह है कि जिन्हें जानकारी बहुत है वे तो महामूल होते हैं जिनको तुम पंडित कहोगे उनके पांडित्य में अज्ञानियों से भी ज्यादा खतरा है अज्ञानी तो कम से कम सीधा साफ होता है किताब कोरी उस पर कुछ लिखावट नहीं लेकिन तथाकथित ज्ञानी जिनकी किताबों में उधार बातें भरी हैं जिन्होंने सदियों का कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है जिन्होंने अपनी स्मृति को एक कचरा घर बना रखा है उनकी भ्रांति और भी गहन है उनको सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि वे सोचते हैं कि वे जानते हैं सुकरात ने कहा है कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता यह पहला कदम है परम ज्ञान की ओर पंडित तो जानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं जिस व्यक्ति ने छुरा फेंका वह अपने को मूर्ख नहीं मानता है वह तो अपने को पंडित मानता होगा वह तो हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा था मूर्ख क्या धर्म की रक्षा करेंगे बेचारे मूर्खों को क्या धर्म का पता है उसे भ्रांति है कि उसे धर्म का पता है इतना ही नहीं उसे ये भी भ्रांति है कि वह धर्म की रक्षा ना करेगा तो और कौन करेगा उसे ये भी पता है कि धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी किया जाए तो शुभ अशुभ साधन भी शुभ साध्य के लिए शुभ हो जाते ऐसी उसकी धारणा होगी हो सकता है गीता का पाठी हो हो सकता है रामायण पढ़ता हो तुकाराम तो और ज्ञानेश्वर और एक नाथ के वचनों को कंठस्थ कर रखा हो उनके अभंग स्मृति में संजो लिए हो वह आदमी अपने को मूर्ख नहीं मानता वह आदमी अपने को पंडित मानता होगा ये पांडित्य की ही घोषणा है और पंडित जितने खतरनाक साबित हुए हैं उतने अज्ञानी कभी खतरनाक साबित नहीं हुए तो पहली तो बात रामदयाल उसे मूर्ख ना कहो वह मूर्ख तो नहीं था जानकारी से भरा होगा और मैं जो कह रहा था वह उसकी जानकारी के विपरीत पड़ रहा होगा न सह सका पंडित की सहनशीलता बहुत कम होती क्योंकि पांडित्य छिछली बात है उथली बात है उसमें कोई गहराई नहीं होती पांडित्य असहिष्णु होता है इसलिए दुनिया को पंडितों ने मुल्लाओं ने मौलवियों ने आयातुल्लाओं ने लड़वाया है खून की नदियां बहाई हैं ये अज्ञानियों के काम नहीं है अज्ञानी तो बिचारे क्या लड़े कैसे लड़े किस बात के लिए लड़े इसका भी उन्हें पता नहीं है अज्ञानी कैसे धर्म की रक्षा का अहंकार करेगा अज्ञानी तो जानता ही नहीं कि धर्म क्या है ये तो तथाकथित ज्ञानियों की बात है तो अगर उसे कोई नाम ही देना हो तो पंडित का देना महापंडित का देना मूर्ख का मत देना क्योंकि वस्तुतः पंडित ही मूर्ख होते पंडित जितने दूर पड़ जाता है परमात्मा से उतना कोई और दूर नहीं होता ज्ञान की दीवाल उसे तोड़ देती परमात्मा से वह निर्दोष नहीं रह जाता उसके मन में इतना अहंकार छा जाता है जानने का ऐसी भ्रांतियां उसे घेर लेती ऐसे विभ्रम उसे पकड़ लेते सिद्धांतों का ऐसा जाल उसके चारों तरफ खड़ा हो जाता है कि वह परमात्मा को जान सके ये करीब करीब असंभव है पापी पहुंच जाते होंगे परमात्मा तक लेकिन पंडित कभी पहुंचा है ऐसा सुना नहीं ऐसा हुआ ही नहीं तो उस बेचारे को पंडित भला कहना मूर्ख ना कहो दूसरी बात तुम कहते हो कि आप सन्यास देना बंद कर दें ताकि कोई आपके करीब ना आ सके और सत्य को कोई अनिष्ट न हो सत्य को अनिष्ट होता ही नहीं और जिस शक्ति को अनिष्ट हो जाए वह शक्ति नहीं सत्य तो हर अनिष्ट से गुजर कर और निखरता है मेरे शरीर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है लेकिन उससे कोई सत्य को नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि मेरा शरीर सत्य नहीं है शरीर तो पिंजरा है वह तो आज नहीं कल गिरेगा ही उसे तो किसी को गिराने की जरूरत नहीं अपने से ही गिर जाएगा लेकिन उसमें जो अज्ञात पक्षी आवास कर रहा है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है उसका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता वह तो जितना आंख से गुजरेगा उतना निखरेगा उतना ही स्वर्ण शुद्ध होगा इसलिए ये चिंता ना लो तुम्हारे प्रेम को मैं समझा और प्रेम अक्सर आसक्ति से भर जाता है मेरे प्रति तुम्हारी आसक्ति है मेरी देह के प्रति भी तुम्हारी आसक्ति है लेकिन तुम बचाना भी चाहो तो भी देह बचेगी नहीं और कोई मिटाना भी चाहे तो व्यर्थ की मेहनत कर रहा है देह तो अपने से ही मिट जाएगी जीसस को सूली न देते तो कोई जीसस अभी जिंदा थोड़ी होते दस पांच साल ज्यादा जीते और कौन जाने दस पांच साल भी ज्यादा जीते या न जीते शंकराचार्य बिना सूली के ही तैतीस वर्ष में मर गए जीसस सूली पर चढ़े और तैतीस वर्ष में मरे और जो बात उन्हें कहनी थी तीन वर्षों में ही उन्होंने कह दी तीस वर्ष की उम्र में उन्होंने काम शुरू किया तैतीस वर्ष में उनको सूरी लग गई जो कहना था वो तीन वर्षों में कह दिया कहने की बात तो थोड़ी है और सूली ने उस बात को ऐसा निखार दिया सूली ने उस बात को ऐसा उछाला कि सदियां बीत गई उस बात की छाप आदमी की आत्मा पर अमिट छूट गई सूली कुछ नुकसान न कर सकी सूली सिंहासन बन गई सत्य के मार्ग पर सूली सिंहासन हो जाती और असत्य के मार्ग पर सिंहासन भी सूली ही सिद्ध होता है इन रहस्यों को समझो सिकंदर सारी दुनिया को जीत लिया लेकिन मरते वक्त रोता मरा उसकी आंखें आंसुओं से गिली थी और जब वो मर रहा था तो उसने अपने वजीरों से कहा कि मेरी अर्थी जब निकले तो मेरे हाथों को अर्थी के बाहर लटके रहने देना वजीरों ने पूछा ये कैसी बात ये कोई परंपरा नहीं ऐसा कोई रिवाज नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं हाथ तो अर्थी के भीतर ही होते बाहर नहीं लटकाए जाते सिकंदर ने कहा हुआ हो या ना हुआ हो मैं जो कहता हूं वो करना ये मेरा आखिरी आदेश मेरी इच्छा पूरी की जाए वजीरों ने कहा आपकी मर्जी आप आदेश देंगे तो जरूर पूरा होगा लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं कि इस अनूठे आदेश का प्रयोजन क्या है तो सिकंदर ने कहा मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ हजारों लोग मेरी अर्थी को देखने आएंगे आए थे लाखों लोग आए थे मैं चाहता हूं कि वो सब देख लें कि सिकंदर महान भी खाली हाथ जा रहा है सारी दौड़ धूप व्यर्थ गई हाथ खाली के खाली सिकंदर भी भिखारी की तरह मर रहा है कुत्ते की मौत मर रहा है ये मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि मत दौड़ो बेकार है दौड़ मैं सिंहासन पाके भी क्या पा सका सारी दुनिया जीत के भी क्या जीता सब हार गया हूं और जीसस की मौत सूली पे हुई और अंतिम क्षण में जीसस की आंखें गीली नहीं थी आंसुओं से नहीं भरी थी ओठों पर प्रार्थना के स्वर थे अंतिम क्षण में उन्होंने प्रार्थना की परमात्मा से कि हे प्रभु इन सबको माफ कर देना देख भूल ना जाना इनको माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये ना करते इसलिए ये क्षमा के पात्र है इसमें कौन जीता कौन हारा ख्याल करो सिकंदर हार गया जीसस जीत गए सिकंदर सिंहासन पाके भी सूली ही पाया और जीसस सूली पाके भी सिंहासन पा गए और ऐसा सिंहासन जो फिर छीना नहीं जा सकता है तुम्हारी प्रीति ठीक तुम्हारी प्रीति के लिए धन्यवाद करता हूं लेकिन तुम्हारी प्रीति आसक्ति ना बने क्योंकि आसक्ति खतरनाक हो जाती एक दूसरे मित्र ने पूछा है दिवाकर ने कि क्या भगवान हम भी तलवार उठाएं आ सकती खतरनाक हो जाती तलवार तो दूर कंकड़ भी नहीं उठाना कोई तलवार उठाए तो गर्दन उसके सामने कर देना तलवार उठाने की बात ही पागलपन की बात है वे भी पागलपन करेंगे और तुम भी पागलपन करोगे तो फिर पागलपन का अंत कैसे होगा जीसस ने कहा है जो तुम्हारे एक गाल पर छांटा हमारे दूसरा भी उसके सामने कर देना जीसस यही कह रहे हैं कि सिलसिले को तोड़ दो सिलसिले को बढ़ाने से क्या सार है और एक चांटा मार लिया हो सकता है संकोच में दूसरा ना मारा हो तो दूसरा गाल भी सामने कर दो उस आदमी का संकोच भी मिटा दो उसका मन ही तृप्त हो जाए तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा उसको तृप्ति मिल जाएगी तुम्हारा कुछ खोएगा नहीं उसका मन संतुष्ट हो जाएगा चलो इतने ही काम आ गई तुम्हारी देह ये भी क्या बुरा आसक्ति तलवार उठा सकती है लेकिन ध्यान रखना प्रीति आसक्ति नहीं प्रीति तो अलौकिक है पृथ्वी की नहीं है पृथ्वी के पार की है प्रीति तो तुम्हें इस योग बनाती है कि तुम समझ सको ये प्रीति है जीसस की कि वो कह सके क्षमा कर देना इन्हें क्योंकि ये ना समझ अगर जरा भी अपनी देह से आसक्ति होती अपने जीवन से आसक्ति होती तो ये मौका था जब वो जरूर परमात्मा से कहते कि एक एक को जला भूनना एक एक को भून डालना एक एक को सड़ा देना एक एक को नरक में डाल देना ये देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या व्यवहार कर रहे ये तुम्हारे पैगंबर के साथ क्या व्यवहार कर रहे दिवाकर पूछते हैं क्या हम तलवार उठाएं तलवारें ही तो उठती रही सदियों सदियों से हल कहां होता है तलवारों से तलवारों में कोई समाधान नहीं समाधान तो प्रेम में है और आदमी इतना अज्ञानी है कि प्रेम की रक्षा के लिए भी तलवार उठा सकता है शांति की रक्षा के लिए भी युद्ध में जा सकता है ये विरोधाभासी बातें हैं शांति की रक्षा के लिए सिर्फ शांत होना जरूरी और प्रीति की रक्षा के लिए प्रीति से आपूर होना जरूरी है अनिष्ट तो हो नहीं सकता कभी हुआ नहीं सत्य का कोई अनिष्ट अब कैसे होगा वह नियम नहीं वह धर्म नहीं है एस धम्मो सनातनो यही शाश्वत नियम है कि सत्य का कोई अनिष्ट नहीं होता हालांकि सत्य का अनिष्ट करने की हर चेष्टा की जाती है की जाएगी ये चुनौतियां निखारती हैं सत्य को संवारती हैं सजावट देती श्रृंगार देती उसे और सुंदर बनाती उसे और माधुर्य देती उसमें अमृत घोल देती तो ना तो मैं सन्यास देना बंद करूंगा क्योंकि सन्यास देना बंद तब तो वे सफल हो गए यही तो वे चाहते कि सन्यास बंद कर दूं एक मित्र ने सलाह दी है कि मैं बोलना ही छोड़ दूं क्योंकि मैं बोलूंगा तो ये उपद्रव होंगे मैं चुप हो जाऊं मैं मौन ही रहूं मौन ही आके बैठू तुम्हें तैयार तो कर लू मौन के लिए मेरे अभी मौन बैठ जाने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा तुम मेरे मौन को अभी समझ ना सकोगे जब तुम तैयार हो जाओगे तो जरूर मौन मुझे होना है लेकिन इसलिए मौन नहीं होऊंगा क्योंकि कोई मेरे शब्दों से बेचैन हो जाता है होने तो उनकी बेचैनी उनकी बेचैनी अच्छा लक्षण है अगर कोई बेचैन हो रहा है तो किसी को चैन भी मिल रहा होगा अगर कोई परेशान हो रहा है तो किसी के जीवन में अमृत भी बरस रहा होगा मेरे जैसे व्यक्तियों का ये भाग्य है कि या तो उनके मित्र होंगे या उनके शत्रु होंगे दोनों के बीच में कोई खड़ा नहीं रह सकता कोई मेरे प्रति तथस्थ नहीं रह सकता है सारी दुनिया को विभाजित ही होना पड़ेगा या तो कोई मेरे साथ होगा या मेरे विपरीत होगा स्वभावतः विपरीत ज्यादा लोग होंगे क्योंकि कितने कम लोगों का साहस है सत्य को पचाने का और असत्य में लोगों ने इतना अपना जीवन डुबाया है असत्य में उन्होंने इतना ज्यादा अपने स्वार्थ लगा रखे कि उनको एकदम छोड़ नहीं सकते मगर ये अच्छे लक्षण हैं कि उन्हें बेचैनी हो रही बेचैनी यही बताती कि उनके भीतर भी टहलका मच गया है अब कोई आदमी अगर छुरा फेंकने को आ जाए तो तुम सोचो उसकी दशा वो ये खतरा ले रहा है कि अगर पकड़ा गया तो सात साल या दस साल की सजा कम से कम अपने जीवन का दस साल कोई कारागृह में डालने को राजी हो रहा है तो मेरे शब्दों ने जरूर कहीं गहरे में उसे झकझोर दिया है उपेक्षा नहीं कर सकता है मेरी जरूर उसके स्वार्थों पर मेरे शब्द कुल्हाड़ियों की तरह पड़ रहे हैं और यही तो लोग हैं जो आज नहीं कल मित्र भी बन सकते जो शत्रु बन सकता है वह मित्र बन सकता है जो मित्र बन सकता है वह शत्रु बन सकता है मित्रों में और शत्रुओं में कोई फर्क नहीं होता वे एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं सन्यास देना तो जारी रहेगा और भी तीव्रता से जारी करना होगा रामदयाल तुम्हें मुझसे कहना चाहिए कि और जल्दी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सन्यास दें कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका शरीर जल्दी छीन ले उसके पहले करोड़ों लोगों को रंग डाले ऐसा मुझसे कहो ये तो मुझसे कहो ही मत कि सन्यास देना बंद करें ये तो भय की बात हुई तुम्हें भय लगता है कि कोई सन्यास लेके ज्यादा करीब आ सकता है तो क्या करेगा गर्दन ही काट सकता है तो गर्दन काटेगा गर्दन बिना काटे भी कट जाती देर अबेर आदमी को इस जमीन से विदा हो ही जाना है और यूं भी कोई मरने का शानदार ढंग खोजना चाहिए जैन फकीर मरते हैं तो अपने शिष्यों से पूछते हैं कि बोलो क्या इरादे हैं किस ढंग से मरे जब बोकुजू मरा तो उसके हजारों शिष्य इकट्ठे हो गए थे बोकुजू मुझे प्रीतिकर है बहुत प्यारा आदमी था उसने पूछा बैठ गया उठकर अपने बिस्तर पर और पूछा अपने शिष्यों से कि बोलो किस ढंग से मरू शिष्य तो बहुत चौंकी ये भी कोई बात हुई मगर वो बोकोजी को जानते थे कि वो आदमी उलट बांसियां बोलता है झिझके की क्या उत्तर दे किस ढंग से मरू ये भी कोई सवाल है मुखजुन का सुना नहीं अरे मैं ये पूछता हूं कि कुछ लोग लेटे लेटे मरते हैं कुछ लोग बैठे बैठे मरते हैं क्या ख्याल तुम्हारा खड़े होके मरू तुमने सुना है कभी किसी को खड़े होके मरते एक आदमी ने कहा कि खड़े होके मरते एक दफा हमने सुना है कि एक फकीर खड़े होके मरा था बोकजू ने कहा फिर जाने दो कुछ नया ढंग खोजो कुछ ऐसा ढंग कि वैसा कोई मरा ना हो क्या ढंग हो सकता है जिस ढंग से कोई मरा ना हो फिर बोकुजू ने खुद ही ने कहा कि अच्छा तो फिर ऐसा करो तुम्हारी कुछ सूझबूझ में नहीं आता तो मैं शीर्षासन लगा के मर जाऊं सिर के बल खड़ा होके सुना तो नहीं है कभी कोई सिर के बल मरा हो नहीं तो फिर और कोई तरकीब खोजे लोगों ने कहा सिर के बल कभी सुना नहीं सुना क्या कभी सोचा भी नहीं सपने में भी कल्पना नहीं आई तो वो कुछ ने कहा ये ठीक रहा अरे मरना भी तो कुछ अपने ढंग से मरना उस सिर के बल खड़ा हो गया शीर्षन लगा के शीर्षासन लगा के शिष्य देखते रहे लगा कि वो तो मर गया अब करना क्या क्योंकि आदमी मर जाए तो उसकी अर्थी बनानी पड़े मगर ये शीर्षासन लगाए हुए खड़ा है आदमी इसको शीर्षासन से उतारना कि नहीं उतारना इसका कोई नियम नहीं कोई पूर्व उल्लेख नहीं किस विधि का उपयोग करें तभी किसी ने कहा ऐसा करो कि इसकी बहन भी पास के ही आश्रम में इसकी बड़ी बहन भिक्षुणी उसको बुला लो उससे पूछ लो उसकी बड़ी बहन को बुलाया गया उसकी बड़ी बहन आई और उसने कहा बोकोजू शर्म नहीं आती तो मरते वक्त भी अपनी शरारतों से बाज ना आओगे जिंदगी भर तुम कुछ ना कुछ शरारत करते रहे अब बाज आओ ढंग से मरो और वो को जू हंसा और शीर्षासन छोड़ के बैठ गया उसने कहा कि मेरी बहन को कौन बुला के लाया ये मुझे अपने ढंग से न मरने देखी अब ये बड़ी बहन है तो इसकी माननी पड़ेगी कहा तेरा क्या इरादा उन्होंने कहा जिस ढंग से आमतौर से लोग मरते ऐसे मरो लेटो बिस्तर पर वो लेट के मर गए बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चे की तरह यह आदमी प्यारा रहा होगा इसकी बहन भी अद्भुत रही होगी जब वो मर गया तो उसकी बहन ने कहा मैं जाऊं अब तुम निपटो अब जो तुम्हें करना हो अंतिम संस्कार वह तुम कर लो जिन्होंने स्वयं को जाना है उनके लिए तो मृत्यु भी खेल है इससे ज्यादा नहीं जीवन भी एक खेल है मृत्यु भी एक खेल एक नाटक एक प्यारा नाटक मगर अभिनय से ज्यादा नहीं उनके लिए तो सब मजाक है सूली लगे कि सिंहासन कोई भेद नहीं पड़ता जीवन को तुम अभिनय से देख सको इसको ही तो मैं सन्यास कहता हूं तुम्हें मैं सब पाठ दे जाना चाहता हूं तुम्हें जिंदगी भी सिखाऊंगा तुम्हें मौत भी सिखाऊंगा तुम्हें जी के भी बताऊंगा तुम्हें मर के भी बताऊंगा कि यूं तभी तो शिक्षा पूरी होगी नाटक देखने जाते हो ना एक तो नाटक होता है पर्दे के बाहर और एक नाटक चलता रहता है पर्दे के पीछे वो ज्यादा असली होता जो पर्दे के पीछे चलता है जो पर्दे के बाहर होता है वह तो केवल अभिनय होता है कोई राम बना है कोई रावण बना है कोई सीता कोई हनुमान एक गांव में एक नाटक कंपनी रामलीला कर रही थी सीता स्वयंवर में गलती से आसानी से टूट जाने वाले धनुष के बदले लक्ष्मण जी का धनुष आ गया जब राम उसे तोड़ने लगे तो टूटे ही ना अहम अहम पसीना कर करके थक गए मगर धनुष टूटे ही ना ऐसी की तैसी इस धनुष की उनके मुंह से निकल गया जनता तो बहुत हंसने लगी कि ऐसा तो रामलीला ने कोई देखा नहीं कि रामचंद्र जी और ऐसी बात बोले कहीं उल्लेख नहीं बूढ़े जनक मामला भाप गए उन्होंने राम को हिम्मत देते हुए कहा रामचंद्र जी थोड़ी और ताकत लगाओ और लक्ष्मण आप भी राम का सहयोग दो देखा ये एक आदमी से टूटने वाला नहीं राम जी थोड़ा प्रयत्न करें पर्दे की तरफ देख के मैनेजर को गाली दें कि तो राम जादे ने खूब फंसाया कि मिल जाए उल्लू का पत्थर तो मजा चखा दे जनता बड़ी हैरान कि ये कैसी रामलीला हो रही है ऐसी तो कभी हुई नहीं जो सो गए थे वो भी जगाए रामलीला में अक्सर लोग सोते हो करेंगे भी क्या सब उनको पता ही है जो होना है मगर इस बार तो कुछ नया हो रहा था बच्चे किलकारियां मार रहे लोग खड़े होकर देखने लगे स्त्रियों ने तो मुंह में अपने अपने आंचल दबा ली कि अब करना क्या ये हो क्या रहा है न बाबा तुलसीदास ने ऐसा लिखा न वाल्मीकि जी लिख गए ये तो कोई नए ढंग की ही रामलीला हो रही आखिर अपनी सब ताकत राम जी ने धनुष पे लगा दी धनुष तो टूटा मगर वे खुद भी जा गिरे जहां रावण बैठा था उसके चरणों में मुकुट बुकुट टूट गया धोती निकल गई और खोपड़ी से खून बहने लगा आंखों में आंसू आ गए और ऐसी अवस्था में सीतानु ने वरमाला पहना थी रामलीला आगे चली कुछ लोगों ने बंदर का परिधान पहना था उसमें एक असली बंदर भी जा मिला लंका जीतने के लिए जो युद्ध होने वाला था उसके लिए पर्दे पर लंका का चित्र तैयार किया गया था असली बंदर ने उस पर्दे की रस्सी खींच दी और पर्दा ऊपर उठ गया असली बंदर को क्या पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है नकली बंदर होता है तो नियम से चलता है असली बंदर को क्या मालूम कि यहां क्या हो रहा है वो तो बंदरों की भीड़ देख के समझा कि बंदर हैं सो वो भी वहां पहुंच गया पर्दा ऊपर उठा क्या तालियां पीटी तालियां पिटती ही रहीं सारी जनता खड़ी हो गई क्योंकि पर्दे के पीछे नाटक कंपनी का चौका था वह दिखने लगा वहां जो आदमी मंदोदरी बना था वह बीड़ी पी रहा था सीता और लक्ष्मण एक दूसरे के गले मिल रहे थे रावण और जनक एक ही थाली में भोजन कर रहे थे और हनुमान जो कि गांव के पहलवान और रसोईया थे कंधे पर अंगोछा डाले चूल्हे पर चढ़ी दाल हिला रहे थे और उनके एक हाथ में बियर की बोतल थी इन सब के बीच भरत जी जो कि प्राम्टर का काम कर रहे थे वे रामायण की किताब लिए खड़े थे जैसे ही पर्दा खुल गया सब जनता के सामने आ गए अपनी अपनी थाली लेके भागे और जनता ताली पीट रही मगर हनुमान जी की पूछ कहीं अटक गई सुबह भाग नहीं पाए उनकी दशा बड़ी बुरी हो गई रामचंद्र जी जो क्या हक्के बक्के रह गए थे वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें उनकी कमान से जो तीर चढ़ा हुआ था वो छूट गया और छज्जे पे लगी थालियों को जा लगा सभी थालियां धड़ाम से नीचे कुछ हनुमान के ऊपर कुछ डाल में बस हनुमान जो की गांव के पहलवान तो थे ही बात उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गई एक तो पूछ फंसी थी ऊपर से थालियां गिर गई उन्होंने निकाली अपनी पूछ और दे मारी राम के मुंह पर राम भी भन बना गए उन्होंने भी और देखा ना ताओ तो जोश में का हनुमान जी को तमाचा जड़ दिया अब तो हनुमान ने अपना होश ही खो दिया और राम पे टूट पड़े राम रावण के युद्ध के बदले राम हनुमान युद्ध छड़ गया मिनटों में राम चारों खाने चित्त रसोइयों को लाल किला देखकर सभी वानर सेना वाले भाग गए राम और हनुमान के युद्ध में राम पिटते रहे और सीता खड़ी हंसती रही और बिचारी करती भी क्या ये तब तक चला जब तक रावण ने बचाव नहीं किया राम का और किसी तरह हनुमान को अलग नहीं किया हनुमान जी जाते जाते कहते गए कि हराम जादे अभी जाता हूं लेकिन दिखाऊंगा मजा और जाते जाते सीता मैया को चोटी घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले गए ऐसे रामलीला की पूर्णा होती हुई एक तो पर्दे के बाहर खेल चलता है एक पर्दे के पीछे पर्दे के बाहर का ही तुमने खेल देखा तो जिंदगी का असली खेल नहीं देखा तुम्हारे भीतर भी एक जगत है और तुम्हारे बाहर भी एक जगत है बाहर के जगत में जन्म होता है मौत होती है बीमारियां आती हैं बुढ़ापा आता है हजारों घटनाएं घटती हैं भीतर के जगत में कुछ भी नहीं सन्नाटा है शून्य है भीतर के जगत में सिर्फ साक्षी भाव सन्यासी भीतर के साक्षी भाव में जीता है बाहर जो भी होता है देखता रहता है जैसा भी होता है देखता रहता है रामदयाल जो भी हो बाहर उसे साक्षी भाव से देखना सीखो ऐसी तो बहुत घटनाएं घटेंगी इन सबको तुम्हें साक्षी भाव से देखना चाहिए इनसे चिंतित बेचैन परेशान नहीं होना है तुम कहते हो या फिर सन्यास को अधिक मुश्किल बनावे सन्यास को जितना मुश्किल बनाया जा सकता है मैंने उतना मुश्किल बनाया है आमतौर से लोगों की धारणा यह है कि मैंने सन्यास को सरल बना दिया वह धारणा बिल्कुल गलत है सन्यास सरल था भगोड़ापन हमेशा सरल होता है युद्ध से भाग जाने में कौन सी कठिनाई कौन सी बुद्धिमत्ता युद्ध से जो भाग जाता है ये तो सबसे सरल काम है वो डरपोक इसीलिए तो भाग जाता है कायर इसीलिए तो भाग जाता है रण युद्ध से भागे हुए आदमी को हम कायर कहते हैं और जीवन के इस युद्ध से भागे हुए आदमी को अब तक हम सन्यासी कहते रहे वह भी भगोड़ा है सन्यासी नहीं इन भगोड़ों की लंबी जमात ने तुम्हें एक सन्यास की गलत धारणा दे दी और तुम सोचते हो कि वो कोई कठिन काम कर रहा है तुम बिल्कुल गलती में हो कोई अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाता है तुम सोचते हो वो कठिन काम कर रहा है कौन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ के भागना चाहता बहादुर जमे रहते नहीं भागते कमजोर भाग खड़े होते पत्नियों से तो कोई भी परेशान हो जाता है स्त्रियों भी में भी हिम्मत हो तो वो भी भागे वो भी परेशान है मगर उनमें उतनी भी हिम्मत नहीं भागने लायक भी हिम्मत नहीं भागने के लिए भी थोड़ी सी तो हिम्मत चाहिए पीठ दिखाने के लिए भी थोड़ी सी हिम्मत चाहिए आखिर चलना तो पड़ेगा दौड़ना तो पड़ेगा स्त्रियों ने बहुत सन्यास नहीं लिया प्राचीन ढंग का सन्यास स्त्रियों में नहीं फैला स्त्री लोग मुझसे पूछते हैं कि स्त्रियों में बुद्ध और महावीर और कृष्ण और मोहम्मद और जीसस जैसी महिलाएं क्यों नहीं हुई पुराने ढंग का सन्यास स्त्रियों में नहीं फैला उसका कारण था वे टिकी रही वे जमी रही लेकिन पुरुष तो भाग गए टिकने की तो हिम्मत नहीं थी उनमें लेकिन भागने योग्य हिम्मत उन्हें जुटा ली ये भगोड़ों की जो कथार है इसको तुमने अब तक समझा है कठिन बात कोई दिन में एक बार भोजन करता है तो तुम सोचते हो बड़ा कठिन कार्य कर रहा है आत्महत्या कोई बहुत कठिन बात नहीं फिर वो शीघ्रता से की जाए कि आहिस्ता आहिस्ता की जाए सच तो यह है जैसे दूसरे को सताने में रस आता है ऐसा ही अपने को सताने में भी रस आता है सिग्मन फ्राइड की बड़ी से बड़ी खोजों में एक खोज ये भी है कि आदमी में दो तरह की वासनाएं हैं मूल वासनाएं एक को वो कहता है जीवेशना इरोस और दूसरे को वो कहता है थानाटोस मृत्यु की आकांक्षा वो कहता है पैंतीस साल की उम्र तक पहली आकांक्षा प्रबल होती और पैंतीस साल के बाद पहली आकांक्षा निर्बल होने लगती है जीवेशना निर्बल होने लगती और दूसरी आकांक्षा प्रबल होने लगती इसलिए ठीक ही शायद हिंदुओं ने हिसाब बांध रखा था कि 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ हो जाना और 75 साल की उम्र में संन्यास्त हो जाना क्योंकि जैसे जैसे मौत करीब आती अगर आदमी 100 साल जिए तो 75 साल की उम्र में अपने आप ही इतना उब चुका होगा संसार से इस बुरी तरह उब चुका होगा कि छूट ही जाना चाहेगा इसमें कुछ बहुत बुद्धिमत्ता की या बहुत साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी रंजन ने पूछा है कि मैं अपने पति से उब गई कौन नहीं उब जाता और उसने पूछा है कि पति से उब तो गई हूं लेकिन अब एक सरदार जी के प्रेम में पड़ गई रंजन ये गजब का काम है ये तू कर ही गुजर इससे तेरा आवागमन से छुटकारा हो जाए क्योंकि रंजन है गुजराती गुजराती बहन और सरदार जी मिल जाए प्रेमी तो सरदार जी का जो होगा सो होगा मगर गुजराती बहन का आवागमन से छुटकारा पक्का है सरदार जी ऐसा सताएंगे तुझे कि जीवन से तेरा जो भी कुछ भी लाभ लगाव होगा अपने आप छूट जाएगा सरदार जी ऐसे तुझ पे टूटेंगे वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा कि फिर तू भूल के भी कभी नहीं सोचेगी प्रेम इत्यादि की बात तूने ठीक ही चुना आवागमन से छूटने का इससे ज्यादा और कोई सुंदर उपाय नहीं तू भी देर मत कर कूदी जा बोल सत श्री अकाल और कूद पर फिर अब जो होगा देखा जाएगा झंझट तो होगी बहुत काम तो कठिन है मगर भगोड़ेपन से बेहतर है भगोड़ापन कोई कठिन काम नहीं है तुम कहते हो कि आप सन्यास को अधिक मुश्किल बना लें मतलब योगा आसन करवाऊं लोगों को शीर्षासन करवाऊं कि तीन घंटे शीर्षासन करो एक दफा भोजन करो नमक न खाना ये न पीना तीन ही घंटे सोना तीन बजे रात उठाना इस तरह उनको अपने आप को सताने की विधियां दू तो तुम पक्का समझो कि अभी मेरे पास जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो बुद्धिमान हैं फिर जो इकट्ठे होंगे जिन मूर्खों से तुम मुझे बचाना चाहते हो वही वही इकट्ठे हो जाएंगे फिर उनके सिवा दूसरा इकट्ठे ही नहीं होगा बुद्धिमान तो फिर नमस्कार कर लेंगे वो कहेंगे फिर हम चले क्योंकि कोई बुद्धिमान आदमी क्यों अपने को तीन बजे रात उठाए किस कारण कोई दिमाग खराब हुआ है पशु पक्षी भी तीन बजे रात नहीं उठते वो भी जब सूरज उगने लगता तब उठते हैं हाँ सूरज उगता है तब जीवन जगता है पृथ्वी पर तब उठना चाहिए वो सहज स्वाभाविक है लेकिन कोई पशु पक्षी रात देर तक जगता भी नहीं इसमें कोई बड़ी खूबी नहीं है पशु पक्षी करें भी क्या जग के न तो बिजली है उनके पास न लालटेन है उनके पास न घास रेट का तेल है उनके पास आदमियों के पास नहीं उनके पास कहां से होगा अच्छा ही कि घोड़े गधे और भैंसे घास लेट का तेल नहीं मांगते नहीं तो कतार में वो भी खड़े रहे आदमी को तो फिर मिलना ही मुश्किल हो जाए क्योंकि वो सींग भी मारे और आगे हो जाए कि हमें पहले लालटन हमारी भरनी न रात को वो शास्त्र पढ़े न फिल्म देखें न संगीत सुने न विवाह उत्सव में सम्मिलित हो शाम हुई कि बिचारे सोना तो करें क्या अब शाम से ही जो सो जाएगा तुम भी अगर शाम से ही सो जाओ तो तीन बजे उठ ही आओगे सोने की एक सीमा है आदमी अकेला है जो सांझ को जागने की क्षमता रखता है जो रात देर तक रात्रि के सन्नाटे का मौन का उपयोग करता है दिन में तो बहुत उपद्रव है शोरगुल है जिन्हें अध्ययन करना हो मनन करना हो ध्यान करना हो चिंतन करना हो उनके लिए रात्रि ही मौका है तो अगर तुम देर तक जगोगे तो कभी ये भी हो सकता है कि थोड़ी देर तक सोए रहो कुछ हर्ज नहीं है बुद्धिमान आदमी अपने जीवन को अपने ढंग से जमाता है किसी की बंधी हुई लकीरों पर नहीं चलता अभी मेरे पास जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो नवनीत है मूर्खों को मैं चाहता नहीं यहां मूढ़ों को मैं यहां इकट्ठा करना नहीं चाहता सिर के बल खड़े होने में तो मैं समझते हो कोई प्रतिभा की जरूरत कोई बुद्धि अंक बहुत ऊंचा चाहिए सिर के बल खड़े होने के लिए सिर के बल खड़े होने के लिए किसी बुद्धि अंक होने की जरूरत नहीं है गधे से गधा व्यक्ति भी सिर के बल खड़ा हो सकता असल में गधे से गधा ही खड़ा होगा और इस तरह के लोग क्या नहीं कर सकते वो क्या क्या नहीं करते पंचामृत पीते पंचामृत में क्या क्या चीजें होती पता गौ माता का गोबर गौमूत्र इस तरह की चीजें को अमृत कहते हैं अगर मैं पंचामृत लाने लगू तो तुम समझते बुद्धिमान आदमी मेरे पास इकट्ठे होंगे गोबर गणेश इकट्ठे होंगे कठिन तो बना दू लेकिन कठिन बनाने से सिर्फ बुद्धिमान हट जाएंगे क्योंकि कठिनाई का मतलब क्या है अपने को सताना किसी तरह से अपने को परेशान करना अपने को परेशान करने में प्रतिभा नहीं चाहिए मैंने किसी और गहराई में सन्यास को कठिन बनाया है वो गहराई यह है कि मैं चाहता हूं तुम जीवन की चुनौती में साक्षी पूर्वक जियो अभिनय सीखो मुझसे एक अभिनेता ने पूछा कि अभिनय की कला के संबंध में आपका क्या कहना है तो मैंने उससे कहा कि अभिनय की कला का सार सूत्र है इस तरह अभिनय करो कि जैसे ये सच्चा जीवन और सच्चे जीवन का ये सार सूत्र है इस तरह जियो जैसे ये अभिनय जो अभिनेता अभिनय कर सके इतनी कुशलता से कि लगे कि सच्चा जीवन है वो कुशल अभिनेता है और जो व्यक्ति इस तरह जी सके जीवन को कि जैसे अभिनय पानी पे खींची गई लकीर वही सन्यासी है मैं तुम्हें सिर्फ अभिनय की कला सिखाना चाहता हूं और ये सबसे ज्यादा कठिन कठिन है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता की मांग करेगा तो तुम्हारे हिसाब से मैं कठिन नहीं बना सकता कि उपवास सिखाऊं अनशन सिखाऊं तुम्हें अपने को सताना सिखाऊं वो सब तो चल रहा है सारी दुनिया में मैं एक नए सन्यास का सूत्रपात कर रहा हूं इसलिए तो बेचैनी है इसलिए हिंदू नाराज हैं जैन नाराज हैं मुसलमान नाराज हैं जिनकी बंधी हुई धारणाएं हैं वो सभी नाराज मुझसे राजी केवल वे ही हो सकते हैं जो इतने विचारशील है कि बंधी हुई धारणाओं के पार उठ सके जो बंधी हुई धारणाओं का अतिक्रमण कर सके और तुम कहते हो ये सारे सुझाव इसलिए ताकि सत्य पर कोई भी प्रहार विफल रहे सत्य पर सभी प्रहार हमेशा विफल रहे उस संबंध में निश्चिंत रहो सत्य को सभी प्रहार और भी ज्यादा निखार जाते हैं और भी उसकी जड़ें जमा जाती तुम अपनी आंखों से ये होते देखोगे अभी तक तुमने कहानियां सुनी थी सुकरात तुम्हारे लिए कहानी है जीसस भी तुम्हारे लिए कहानी और अलहलाज मंसूर भी तुम्हारे लिए कहानी अब तुम अपनी आंखों के सामने मेरे साथ जी के इन कहानियों का अर्थ समझोगे तुम अलहलाज को फिर अपने बीच पाओगे फिर जीसस को अपने बीच उठते बैठते हुआ पाओगे फिर तुम सुकरात के सत्य सुनोगे और तुम देखोगे कि सत्य पर कैसी धार आती सत्य कैसे निखरता है सत्य का सूर्य कैसे उदय होता है कोई चीज कभी सत्य को विफल नहीं कर पाई अब तक जो नहीं हुआ वह आज भी नहीं हो सकता है और आगे भी नहीं हो सकता है एस धम्मो हो दूसरा प्रश्न भगवान 22 तारीख को ही घटना से गत स्मृतियां तीव्रता से याद आ रही हैं पूना से कल्याण आपको रेल पर छोड़ने जा रहे थे अचानक खपोली गांव के चौराहे पर हमारी कार पर ट्रक जोर से आके टकरा गया कार के शीशे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े होकर आप पर गिर गए कुछ क्षण लगा आप बुरी तरह से घायल हुए हैं परंतु आपको और साथ में हम लोगों को कुछ भी लगा नहीं नासिक से पुंगलिया जी की कार में उनके साथ आप प्रवचन के लिए पुना आ रहे थे रास्ते में कार तीन चार पटली खाकर गड्ढे में गिर गई थी जैसी हालत में सबको काफी लग सकता था फिर भी आपको और साथ वालों को कोई भी चोट नहीं लगी बम्बई वुडलैंड में आपके ऊपर हमला करने का असफल प्रयास हुआ था लाओस से हाल की छत बुरी तरह से गिर गई थी कुछ घंटे बाद ही वहां आपका प्रवचन होने वाला था क्या होता उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते फिर भी किसी तरह का शारीरिक नुकसान किसी को भी नहीं हुआ दो दिन पूर्व आपके ऊपर छुरी फेंकी गई सभा में बैठे हुए कितने श्रोताओं के ऊपर से छुरी चली थी फिर भी किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ यह बड़ा चमत्कार है आप तो बचते ही हैं और साथ वालों को भी आप बचाते हैं चमत्कार के प्रचलित अर्थ में हम यह चमत्कार मानते नहीं लेकिन इन घटनाओं से कुछ राज जरूर प्रतीत होता है आप इस पर कुछ प्रकाश डालें ऐसी इच्छा है योग मानिक अस्तित्व पर श्रद्धा हो तो अस्तित्व सुरक्षा है फिर जो भी होता शुभ है सूफी फकीर जुन्नैद एक रास्ते से गुजर रहा था उसके पैर में एक पत्थर की चोट लग गई जुन्नैद की आदत थी वो हमेशा आकाश की तरफ देख के चलता था जैसे सदा सदा वो जो दूर अज्ञात उसकी पुकार उसे सुनाई पड़ती रहती थी जुन्नैद अद्भुत सूफी फकीरों में एक अलहिलाज मंसूर का गुरु था उसके पैर में चोट लग गई पत्थर की नुकीली धार वाला पत्थर सड़क पर पड़ा था पैर लहू लुहान हो गया जुन्नैद झुका घुटने के बल बैठ के उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे वो परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि हे प्रभु तेरा कितना धन्यवाद करूं जितना धन्यवाद करूं वही थोड़ा है किस्से से तो बड़े हैरान हुए उन्होंने कहा कि हमें इसमें धन्यवाद करने जैसी कोई बात दिखाई पड़ती नहीं हाँ अगर परमात्मा तुम्हें बचा लेता और पैर में चोट न लगी होती तो भी हम सोचते कि धन्यवाद देने की कोई बात है मगर पैर लुहान हो गया है फिर भी तुम धन्यवाद दे रहे हो इसमें धन्यवाद देने का क्या कारण जुन्न का पागलो तुम्हें पता नहीं लगनी तो चाहिए थी मुझे सूली लेकिन उसकी अनुकंपा के कारण केवल पैर में चोट लगी और सूली टल गई और ये बात सच थी क्योंकि जुन्नैद जिस राजधानी को छोड़ के आया था उसके छोड़ने के घड़ी भर बाद ही जिस सराय में वो ठहरा हुआ था उसे पुलिस ने घेर लिया था उस राजधानी का जो बादशाह था वो जरा सी देर से पहुंचा था वो जिन्नत को पकड़ के मार डालना चाहता था कारण यह था कि जुन्नत ऐसी बातें कहता था जो ना समझों को लगती थी कि कुरान के खिलाफ ना समझों को हमेशा ये लगता है ना समझों को ये भ्रांति होती है कि वो समझते हैं कि कुरान में क्या है जुन्नत जैसा आदमी उन्हें गलत लग सकता है क्योंकि जुन्नैद कुरान को जीता है उसकी व्याख्या जीवंत है उसकी व्याख्या शाब्दिक नहीं ये तो पीछे पता चला शिष्यों को कि जुन्नैद ठीक कह रहा था लग तो गई होती फांसी लेकिन सिर्फ पैर में चोट लगने से बच गया लेकिन ये भी कुछ बात नहीं एक बार जुन्नद काबा की यात्रा को निकला उसकी आदत ही थी कि रोज धन्यवाद देता पांच बार नमाज पढ़ता तो पांच बार परमात्मा को धन्यवाद देता कि हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है तू हमारी कितनी फिक्र करता है हर बात की फिक्र इतनी बड़ी दुनिया चलाता है और मुझ गरीब की भी चिंता रखता है कैसा तेरा प्रेम है कि मुझे भूलता नहीं क्षण भर को मैं भला तुझे भूल जाऊं मगर तू नहीं भूलता उस यात्रा में ऐसा मौका आया कि तीन दिन तक किसी गांव में शरण न मिली जिस गांव में भी गया उस गांव के लोगों ने कहा कि भाग जाओ इस गांव में जगह नहीं मिलेगी चुस्त दकियानुसी लोगों के गांव थे सूफियों को तो वो बगावती समझते थे भ्रष्ट समझते थे जैसे मेरे सन्यासी इस तरह सूफियों को वो समझते थे रोटी नहीं मिली पानी पीने को नहीं मिला तीन दिन तक प्यासे भूखे थके मांदे सोने को जगह नहीं रेगिस्तान में पड़े थे मगर तीसरे दिन भी सांझ जब वो प्रार्थना कर रहा था तो तारों से भरे आकाश की तरफ उसके हाथ उठे थे और वो कह रहा था हे प्रभु आनंद के आंसू बह रहे थे तेरा धन्यवाद तू हमारी कितनी फिक्र करता है शिष्यों से नहीं रहा गया एक ने उसे बीच में हिला कहा कि बस अब बंद करो किसको धन्यवाद दे रहे हो तीन दिन से भूखे न रोटी न पानी ठहरने की जगह नहीं अभी भी तुम ये कह रहे हो यही कहे चले जा रहे हो कि हे परमात्मा तेरा धन्यवाद तू हमारी कितनी फिक्र करता है जो नन्नता ना समझो तुम्हें पता नहीं हमारी जो जरूरत होती है वही हमें देता है यही हमारी जरूरत थी अभी कि तीन दिन तक हम भूखे रहें और तीन दिन तक हमें पानी ना मिले और तीन दिन तक हमें अपमान सहना पड़े यही हमारी जरूरत थी जो हमारी जरूरत है वो पूरी करता है यूं समझो कि वो जो करता है वही हमारी जरूरत है इन दोनों में कोई भेद नहीं योग माणिक चमत्कार कुछ भी नहीं सीधा सीधा राज खुला हुआ राज छिपा हुआ इसमें कुछ भी नहीं जो उसकी मर्जी जो इस परिपूर्ण अस्तित्व की मर्जी वही होगा जब तक वो जिलाना चाहता है जब तक उसे जरूरत है कि इस बांसुरी से गीत गाए ये बांसुरी बनी रहेगी जिस दिन जरूरत नहीं है उस दिन ये बांसुरी टूट जाएगी उस दिन लाख बचाने के उपाय कारगर ना होंगे और तब तक जब तक कि वो चाहता है ये गीत चले ये नृत्य उठे ये स्वर गूंजे ये वीणा बजती रहे तब तक लाख तोड़ने के उपाय हैं तो भी कुछ टूटेगा नहीं मुझे याद है भली बात जिन घटनाओं की तुमने स्मरण दिलाया है ट्रक आके कार से टकरा गया था और सारा कांच चकनाचूर होकर मेरे ऊपर गिरा था मुझे भी क्षण भर को लगा था इस तरह कांच को चकनाचूर होते ही मैंने कभी नहीं देखा था बिल्कुल जैसे धूल हो गया कांच मेरे बालों में भर गया था मेरी आंखों में भर गया था सारे शरीर पर कांच ही कांच हो गया था मैंने भी सोचा था कि आंख में तो कम से कम चोट पहुंच ही सकती मगर मैं भी चकित हुआ था कहीं कोई खोच भी नहीं आई थी आंख में एक जरा सा धूल का कण भी चला जाता है तो भी आंख लाल हो जाती मगर कांच के टुकड़े भी गए थे तो भी आंख लाल नहीं हुई थी उसकी मर्जी थी कुछ काम उसे लेना था और नासिक से पूना आते समय तो घटना बहुत ही खतरनाक थी कार एक सूखी हुई नदी में गिर पड़ी थी तीन चार बार तो उसने करबट ली बीच में और जब गिरी तो उल्टी गिरी चाक ऊपर हम भी सब कार के भीतर दो तीन दफा चक्कर खा गए लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी और बड़े आनंद की थी कि जब हम गिरे तो कार उल्टी थी मगर हम सब सीधे बैठे हुए थे सीटें हमारे सिर पर पहुंच गई थी और उन सीटों के कारण सिर की भी रक्षा हो गई थी नहीं तो सिर तो फूट ही जाते कम से कम एक क्षण को तो ऐसा लगा था कि सबको खत्म हो जाना चाहिए किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए कार तो बिल्कुल पिछल गई थी कार को तो वहीं छोड़ देना पड़ा कार तो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी कार में तो कुछ बचा नहीं था थोड़ी देर तो सब चुप ही बैठे रहे क्योंकि समझा कि मामला खत्म ही है अब बोलना बालना क्या है फिर मुझे ही पुंगलिय जी से कहना पड़ा कि पुंगलिय जी अब हम बाहर निकलें लगता है जिंदा है बाहर निकले तो सोचते थे कि चोट आई होगी मगर खरोंच भी नहीं लगी थी पोंगलिया जी तो बेचारे दौड़ धूप में लग गए फिर दूसरी कार का इंतजाम करना माणिक बाबू को फोन किया कि तुम दूसरी गाड़ी लेके आओ और मैं आराम से घर में जाकर सो गया अब और करने को क्या बचा था जब तक उन्होंने भाग दौड़ की दूसरी गाड़ी आई तब तक मैं आराम से सो लिया दोपहर मुझे सोने की आदत है वो मैं छोड़ता नहीं मैं अपनी आदतों से बाज नहीं आता मैंने कहा जब बची गए तब सो लेना चाहिए या तो सो ही गए होते तो फिर जरूरत ही नहीं थी अलग से सोने की और अब बच ही गए तो अब सोना छोड़ना ठीक नहीं कोई भी देखेगा तो उसको चमत्कार लगेगा मगर कुछ चमत्कार की बात नहीं एक बारगी हम अपने अहंकार को छोड़कर अस्तित्व के साथ अपनी एकता स्वीकार कर लें फिर अस्तित्व जाने मैं इसी को आस्तिकता कहता हूं बच गए तो ठीक न बचे तो ठीक कुछ ऐसा नहीं कि बच गए इसलिए ही ठीक योग माने की ये ख्याल रखना ये मत सोचना कि बच गए इसलिए ठीक न बचते तो भी इतना ही ठीक अब यहां जो छुरा फेंका गया वो अनेकों के सिर पर से गुजरा है वो मेरे सामने से गुजरता हुआ गया यहां चैतन्य और गायन के बिल्कुल पैर के दोनों के पैर के बीच में गिरा गजब कर दी छुरे ने भी बड़ा होशियार छुरा रहा फेंकने वाले से तो ज्यादा होशियार रहा नहीं तो यहां इतने लोग सघन होकर बैठे हुए हैं कि खाली जगह में गिरना बड़ी बुद्धिमत्ता रही होगी छोरे की मगर जमीन पे गिरा खाली जगह पे गिरा किसी को खरोंच भी नहीं आई मगर फिर भी इससे ये मत सोचना इसलिए चमत्कार अगर कोई मर भी जाता तो भी चमत्कार था अगर मैं भी चल पसता तो भी चमत्कार था चमत्कार में कुछ भेद नहीं पड़ता जिस दिन हम जीवन में भी और मृत्यु में भी सुख में भी और दुख में भी समान भाव से परमात्मा का अनुग्रह स्वीकार करते हैं उस दिन ही हमें आस्तिकता का जन्म होता है और ये तो आस्तिकों का जमाव है ये तो महफिल है आस्तिकों की तो यहां इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी होती रहेंगी छुरा जैसे फूल की तरह आया और गिर गया अक्सर ऐसा हो जाता है कि आदमी से कहीं ज्यादा समझदार छुरे होते क्योंकि छुरे न हिंदू होते न मुसलमान होते न ईसाई होते छुरों को क्या फिक्र कि किसका धर्म बचाना है और किसका नहीं बचाना है छुरे तो बस छुरे हैं निष्पक्ष तथस्थ छुरों को क्या लेना देना बुद्ध के ऊपर किसी ने शिला सरका के गिरा दी थी पूरी चट्टान वो नीचे ध्यान कर रहे हैं पहाड़ी पर से किसी ने चट्टान सरका दी कहते हैं वो चट्टान इस ढंग से सरकाई गई थी नाप जोक से सरकाई गई थी कि वो बुद्ध को अपने चपेट में लेके उनको पीस के चली जाती लेकिन पता नहीं क्या हुआ चट्टान को क्या हुआ को ठीक बुद्ध के पास तक तो ठीक वैसी आई जैसी भेजने वालों ने कल्पना की थी और बुद्ध के पास से उसने एक मोड़ ले लिया जरा सा मोड़ और बुद्ध को छोड़ के फिर उसी पथ पर अग्रसर हो गई जिस पर उसे जाना चाहिए था जैसे चट्टान चट्टान गिराने वालों से ज्यादा समझदार थी किसी ने बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ दिया वो पागल हाथी न मालूम कितने लोगों की हत्या कर चुका था वो पागल हाथी आया और बुद्ध के चरणों में सिर झुका के बैठ गया जिन्होंने छोड़ा था वो भी चकित हुए कि बात क्या हो गई ये पागल हाथी को क्या हुआ बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध से पूछा इस पागल हाथी को क्या हुआ ये तो पागल है उन्होंने कहा ये भला पागल है मगर आदमी थोड़ी मतान तो नहीं है भांति है इसको कोई धर्मशास्त्र वेद इत्यादि से कोई मोह नहीं जिनने छोड़ा है उनको वेद से मोह है उनको है कि मैं वेद के विपरीत बोल रहा हूं इसलिए मार डाला जाऊं इस हाथी को क्या लेना वेद इत्यादि से ये होगा पागल मगर इतना पागल नहीं है जितना कि आदमी पागल हो सकता है ख्याल रहे आदमी जितना नीचे गिर सकता है उतना दुनिया में कोई नीचे नहीं गिर सकता क्योंकि आदमी जितना ऊंचा उठ सकता है उतना कोई आदमी ऊंचा नहीं उठ सकता आदमी पशुओं से बहुत नीचे जा सकता है और देवताओं से बहुत ऊपर आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर नर्क में लगा है और दूसरा छोर स्वर्ग में लगा है आदमी ही सिर्फ सीढ़ी है बाकी सारे पशु जैसे हैं वैसे हैं लेकिन आदमी एक सीढ़ी है आदमी विकासमान है गतिमान है वो नीचे गिर सकता है ऊपर चढ़ सकता है सीढ़ी एक ही है उसी सीढ़ी से ऊपर जाया जाता है उसी से नीचे जाया जाता है सिर्फ दिशा का भेद होता है राज कोई छिपा हुआ राज नहीं राज खुला हुआ है छोटा सा है जैसे बूंद सागर में गिर जाए तो फिर बूंद को अपनी चिंता क्या फिर सागर ही हो गई फिर सागर जाने बचाना हो बचाए ना बचाना हो ना बचाए बचाए तो भी ठीक ना बचाए तो भी ठीक ऐसे ही मैं नहीं हूं सागर है उस सागर को तुम परमात्मा कहो मोक्ष कहो निर्वाण कहो बुद्धत्व कहो जिनत्व कहो जो भी तुम्हारी मर्जी हो जो नाम देना हो लेकिन इतना ही है कि बूंद अब नहीं है सागर है और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं मैं तो सिर्फ बहाना हूं वो मेरे बहाने सागर से ही जुड़ रहे हैं इसलिए बहुत चमत्कार होते रहेंगे यही असली चमत्कार है कोई हाथ से राख निकाल देना चमत्कार नहीं कि हाथ से घड़ियां प्रकट कर देना चमत्कार नहीं है ये सब मदारी गिरिया है ये सब मदारी है ये सड़क छाप मदारी है ये सड़क के कोने कोने पे जो मदारी खेल दिखाते हैं उससे भिन्न इन खेलों में कुछ भी नहीं मगर ये जो चमत्कार अपने आप होते हैं जो श्रद्धा के कारण होते जो आस्था के कारण होते यही असली चमत्कार है और इन चमत्कारों को अनुभव करने का जो भी तुम्हें मौका दे उसका धन्यवाद करना है अभी जो आदमी छुरा फेंक गया ये तुम्हें एक मौका दे गया इस पर नाराज मत होना इसके मन में कोई दुर्भाव न लाना इसके प्रति ये एक शुभ अवसर उपस्थित कर गया ये नाहक अपने को झंझट में डाल गया और तुम्हारे लिए एक मौका दे गया तुम्हारे लिए एक दर्शन का क्षण एक झरोका खोल गया योगमानिक ऐसे बहुत झरोखे खोलेंगे यही सत्संग है सत्संग इतना ही नहीं है कि मैं कुछ कहूं वो तुम सुनो सत्संग के बहुत पहलू हैं बहुत आयाम है मैं जो नहीं कहूंगा वो भी तुम सुन सकोगे जो कभी नहीं कहा जा सकता वो भी तुम सुन सकोगे और जो घटेगा वो भी तुम देख सकोगे यहां रहस्य खुलेंगे और रहस्यों के पीछे रहस्य छिपे हुए उनकी अनंत श्रृंखला है इस सारी श्रृंखला की खोज ही तो सन्यास है इस श्रृंखला की खोज का नाम ही तो धर्म है एक सूत्र तुम्हारे हाथ में पकड़ आ जाए तो तुम इस अनंत यात्रा पर निकल जाओगे किसी भी बहाने सूत्र को पकड़ लो और चल पड़ो तीसरा प्रश्न भगवान क्या भारत देश ब्रह्मज्ञानी नहीं है आत्मानंद ब्रह्मचारी हो तो तुम भी हिम्मत के आदमी मार में कितनी ही मारूं मगर तुम भी टस से मस नहीं होते तुम जमे हो अपनी जगह पे बिल्कुल फिर देश कहीं ब्रह्मज्ञानी होते और अगर ब्रह्मज्ञानी होते होंगे तो ब्रह्म देश होगा देश कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं समाज ब्रह्मज्ञानी नहीं होते समूह ब्रह्मज्ञानी नहीं होते ब्रह्मज्ञान की घटना तो व्यक्ति के अंतस्थल में घटती हाँ कोई बुद्ध कोई महावीर कोई कृष्ण कोई गोरख कबीर नानक दादू मलूक फरीद व्यक्ति लेकिन देश नहीं होते ब्रह्मज्ञानी देश की कोई आत्मा होती देश है ही क्या एक कोरा नाम मात्र है एक संज्ञा मात्र है किस चीज को भारत देश कहते हो हिमालय गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी सतपुड़ा विंध्याचल जमीन आकाश किसको देश कहते हो आत्मा अगर अपने को अनुभव करे तो ब्रह्म ज्ञान जल उठता है दिए की लौ की तरह मगर आत्मा तो व्यक्ति की संपदा है समूह की नहीं समूह से ज्यादा मूढ़तापूर्ण कृत्य और कोई नहीं करता व्यक्ति कभी नहीं करता भीड़ ने जितने पाप किए हैं दुनिया में उतने किसी और ने नहीं कि पाप करवाने हो तो भीड़ चाहिए हिंदुओं की मुसलमानों की ईसाइयों की भीड़ चाहिए भीड़ हो तो पाप करवाए जा सकते हैं क्योंकि भीड़ का एक राज है व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व अनुभव नहीं होता अगर एक भीड़ मस्जिद को जला रही हो तो तुम भी जोश में आ जाते हो तुम भी लग जाते हो मस्जिद को गिराने में जलाने में अगर तुमसे अकेला पूछा जाए कि क्या तुम अकेले यह काम कर सकते थे तो शायद तुम्हारी छाती भी धड़केगी शायद तुम्हारा अंतकरण भी कछोटेगा तुम कहोगे कि नहीं अकेले तो मैं नहीं कर सकता था क्यों क्योंकि अकेले करते तो तुमको लगता कि मैं ये क्या कर रहा हूं क्या ये उचित है आखिर ये भी तो घर परमात्मा का है आखिर यहां भी तो लोग प्रार्थना करने ही इकट्ठे होते हैं यू ना करते होंगे प्रार्थना यू करते होंगे मगर करते तो प्रार्थना ही है याद तो उसी की है नाम उसका नहीं होगा राम तो अल्लाह होगा लेकिन नाम तो सिर्फ इशारा है वह तो अनाम है किसी भी इशारे से पुकारो मैं ये क्या कर रहा हूं व्यक्ति को अगर आग लगानी पड़े मंदिर में या मस्जिद में या किसी की छाती में छुरा भोंकना पड़े सिर्फ इस कारण क्योंकि ये हिंदू है या मुसलमान है तो चौंकेगा सहमेगा ठिटकेगा हजार बार सोचेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं ये उत्तरदायित्व मेरे ऊपर होगा लेकिन जब भीड़ कोई पाप करती है तो भीड़ में तुम्हारा उत्तरदायित्व खो जाता है तुम कहते हो कोई मैं थोड़ी कर रहा हूं लोग तो आग लगा ही रहे थे मैं साथ हो लिया संग साथ हो लिया मैं ना होता तो भी मस्जिद तो जलती मंदिर तो गिरता मूर्ति तो टूटती मैं ना भी होता तो भी आदमी तो मारे ही जाते मेरे होने से मारेगा ये तो कोई सवाल ही नहीं इसलिए मैं कहीं आता नहीं तुम निश्चिंत हो जाओगे तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं इसलिए अच्छे अच्छे नाम चाहिए पाप के लिए देश जाति धर्म ऊंचे ऊंचे नारे चाहिए जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया एक लाख बीस हजार आदमी जल के राख हो गए एक आदमी के कृत्य से तुम जरा सोचो तुमसे अगर कोई कहे कि एक लाख बीस हजार आदमी तुम्हारे कृत्य से जल के राख हो जाएंगे तुम कर सकोगे करने के लिए बड़ा नाम चाहिए पड़ेगा देश मनुष्यता शांति की रक्षा उस आदमी से जब दूसरे दिन सुबह पूछा पत्रकारों ने कि तुम्हें रात नींद आई उसने कहा मैं बिल्कुल आनंद से सोया अपना कर्तव्य निभाया आज्ञा का पालन किया अपने देश की रक्षा के लिए जो करना चाहिए वह किया और ये देश की रक्षा नहीं ये दुनिया को युद्ध से बचाने का उपाय है ये मनुष्य की रक्षा है ये मनुष्यता मात्र की रक्षा है ये दरिंदे है ये राक्षस इसलिए हर एक व्यक्ति अपने दुश्मन को राक्षस कहता है कोई रावण राक्षस नहीं था लेकिन राम के पक्ष में जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो रावण को राक्षस कहेंगे दक्षिण में किताबें लिखी गई हैं जिनमें रावण को महापुरुष कहा गया है वो उसको राक्षस नहीं कहेंगे जब हिंदुस्तान और चीन में दोस्ती थी तो हिंदी चीनी भाई भाई और जब चीन ने हमला किया तो चीनी राक्षस हो गए हिंदुस्तान में कविताएं लिखी जाने लगी कि चीनी जो है राक्षस दुश्मन राक्षस हो जाता है राक्षस क्यों क्योंकि राक्षस कह के उसको मारना आसान हो जाता है आदमी कहोगे तो मारना मुश्किल होगा राक्षस को मारने में क्या हर्जा है अरे तो महापापी इसको मिटा दो तो उतना ही पृथ्वी का भार कम हुआ अपने को अच्छे अच्छे शब्दों की आड़ में खड़ा कर लो और दूसरे को बुरे बुरे शब्दों से लाद दो तो सुविधा हो जाती आसानी हो जाती बहुत आसानी हो जाती आत्मानंद ब्रह्मचारी देश इत्यादि की बातें जाति और समूह की बातें संप्रदाय की बातें ब्रह्म ज्ञानियों की बातें नहीं है ब्रह्म ज्ञान तो निजी घटना है एक स्कूल में एक ब्राह्मण पंडित विद्यार्थियों से पूछ रहा था बताओ भारत में कौन कौन से मत प्रचलित एक छात्र ने कहा पंडित जी कांग्रेस मत जनता मत इत्यादि इत्यादि पंडित जी गुस्से में आ गए वो कहा धर्म की बात कर रहे हैं और ये कहा राजनीति की बात छेड़ रहा है पंडित जी ने गुस्से में कहा बको मत छात्र ने कहा पंडित जी मैं भूल गया था बको मत भी बहुत प्रचलित है भीड़ में तो बको मत रहता है कहा ब्रह्मवाद बकवास व्यर्थ की बकवास लोग ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं आत्मा की चर्चा कर रहे हैं जैसे कि उन्हें पता हो पता उन्हें कुछ भी नहीं मगर शब्द सीख लिए तोतों की तरह दोहराए चले जा रहे हैं किसी काम के वे शब्द नहीं उनके जीवन में उन शब्दों से कोई क्रांति नहीं होती अगर तुम इन्हीं शब्दों को ब्रह्मज्ञान मानते हो तब तो ठीक भारत ब्रह्मज्ञानी देश क्योंकि यहाँ जितने ब्रह्मज्ञान की चर्चा होती कहीं नहीं होती और कुछ हमारे पास चर्चा को बचा भी नहीं हर देश की अपनी अपनी आदतें होती हैं रिवाज होते जैसे इंग्लैंड में लोग हमेशा मौसम की चर्चा करते और कारण है उसका क्योंकि मौसम एक ऐसा विषय है जिसमें कोई ज्यादा वाद विवाद की जरूरत नहीं अंग्रेज वाद विवाद पसंद नहीं करते अशिष्ट मानते हैं वाद विवाद को ऐसी कोई बात छेड़ना जिसमें वाद विवाद हो जाए ये बिल्कुल ही निर्विवाद सत्य है जिनमें कोई विवाद का सवाल ही नहीं जैसे बादल घिरे तो अंग्रेज कहेंगे आज बहुत बादल घिरे स्वभाव था दूसरा भी कहेगा कि हाँ आज बहुत बादल गिरे बड़ी उमस है बड़ी बेचैनी अनुभव हो रही अब इसमें क्या विवाद करना है मुल्ला नसरुद्दीन अपने नाई से बाल बनवाने जाता है बार बार मैंने उसको देखा कि जब भी वो नाई से बाल बनवाता है तो बस वो मौसम की ही बात करे क्या आज सूरज निकला हुआ है बड़ा सुंदर सूरज और कभी कहे कि आज वर्षा हो गई खूब बूंदाबांदी पड़ रही बड़ा आनंद आ रहा है मैंने उससे पूछा ना सुरुद्दीन और तो तू कभी भी मौसम की चर्चा नहीं करता मगर जब नाई से तू अपने बाल बनवाता है तो हमेशा मौसम की चर्चा करता तो उसने कहा कि आप क्या समझते हैं कि मैं पागल हूं जिस आदमी के हाथ में उस तरह हो और मेरी गर्दन पर उस तरह लगाया हो उससे क्या राजनीति या धर्म की बात छेड़ू आ जाए गुस्से में नवे का बच्चा क्या पता छत्तीस गणों का पूरा मार दे जोर से तो मौसम की चर्चा करता हूं जिसमें कि कोई झगड़ा झांसे का सवाल ही नहीं अंग्रेज मौसम की चर्चा करते हैं जिसमें कोई बात विवाद नहीं एक तो वो चर्चे नहीं करते जहां तक बने चर्चे नहीं करते अगर दो अंग्रेज एक रेलगाड़ी के डब्बे में बैठे हों तो घंटों बैठे रहेंगे बिना एक दूसरे से बोले हुए क्योंकि जब तक कोई तीसरा उनका परिचय न कराए तब तक वो बोले कैसे बोलना असंभव परिचय नहीं करवाया गया तो चुपचाप बैठे रहेंगे अपना अपना अखबार पढ़ते रहेंगे दो भारतीय मिलेंगे तो ब्रह्म ज्ञान छेड़ेंगे ये भारतीय आदत रिवाज ये हमारी पुरानी लीक इसका कोई मूल्य नहीं उतना ही मूल्य जितना मौसम की चर्चा का इंग्लैंड में उतनी ब्रह्मज्ञान की चर्चा का भारत में दो भारतीय मिलेंगे तो फौरन वेदांत छिड़ जाएगा और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बात करेंगे क्योंकि जब वेदांत ही छिड़ा हो तो फिर किससे क्या पीछे रहना लंबी मारेंगे गपसप ही चल रही है तो फिर क्या किसी से हारना और ब्रह्मज्ञान का मामला ऐसा इसमें कुछ भी कहो सभी ठीक है क्योंकि न पक्ष में कोई प्रमाण है न विपक्ष में कोई प्रमाण है प्रमाण का तो कोई सवाल ही नहीं एक राधा स्वामी संप्रदाय को मानने वाले सज्जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप अस्तित्व के कितने खंड मानते क्योंकि हमारे गुरु तो चौदह खंड मानते और चौदवा खंड का नाम है सच खंड वो नक्शा भी लाए थे चौदह खंड और उस खंडों में जो उन्होंने दिखाया था वो झगड़े झांसे की बात है क्योंकि उसमें मोहम्मद मूसा इत्यादि तो पांचवें खंड में अभी वहीं अटके जीसस जरथुस्त जरा आगे गए छठवें खंड में महावीर बुद्ध और थोड़े आगे बढ़े बड़ी कृपा की उन्होंने सातवें खंड में फिर कबीर नानक इत्यादि और थोड़े आगे बढ़ा दिए आठवें खंड में मगर चौदहवें खंड तक उनके ही गुरु पहुंचे सच खंड वो मुझसे पूछने लगे आप कितने खंड मानते हमारे गुरु के संबंध में आपका क्या ख्याल है क्या ये खंड सच है मैंने कहा बिल्कुल सच क्योंकि मैंने तुम्हारे गुरु को चौदह में खंड में अटके देखा तो आपका मतलब तो मैं में खंड में हूं महासच खंड आप कहते क्या है ये तो कभी सुना नहीं तो तुम सुनोगे कैसे तुम्हारे गुरु को ही पता नहीं था तो तुम सुनोगे कैसे कहने नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे गुरु को पता नहीं उनको पता कैसे होगा जब चौदह में अटके हैं जब तुम दूसरों को अटका रहे हो किसी को सातवें में किसी को आठवें में जब तुमको ये अधिकार है अटकाने का तब मैं भी क्या करूं मैं पंद्रह में में हूं तब से वो आए नहीं ऐसे नाराज होके गए हैं कि फिर नहीं लौटे मैंने उनसे कहा भी कि कभी कभी सत्संग को आ जाया करो वैसे तुम्हारे गुरु भी बहुत प्रार्थना करते हैं कि निकाल लो मुझे शब्द में खंड से कोशिश कर रहा हूं उनको भी निकालने की तो नाराज ही हो गए एकदम की बात ही हमारे गुरु के खिलाफ हो गई और दूसरे गुरुओं के खिलाफ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है महावीर और बुद्ध को भी साथ में मटकाए हुए में तक भी नहीं पहुंचने देते बड़ी कृपा की उन्होंने कबीर नानक इत्यादि पे उनको आठवें में चढ़ा दिया तो मैंने कहा तुम मेरी तो दया भाव देखो कि तुम्हारे गुरु को चौदहवें में तक चढ़ाया स्वीकार करता हूं और मैं देख ही रहा हूं उनको चौदह में है बिल्कुल सच कहते हैं अब उनको कोई चाहिए जो निकाले मैं कोशिश करूंगा जितना बन सकेगा निकालने की निकल आए तो ठीक जोर से पकड़े हुए हैं चौदह खंड को क्योंकि वो समझते हैं सच खंड आखिरी खंड सच खंड आखिर कैसे हो सकता फिर महासच खंड का क्या होगा ब्रह्म ज्ञान की ही बात करनी हो तो फिर जो दिल में आए बात करो चौदमा खंड बनाओ सोलवा बनाओ अठारवा बनाओ मंदिरों में नक्शे लटके हुए हैं नरक के स्वर्ग के महावीर कहते थे एक नरक उनका ही एक शिष्य गौशाला बगावती हो गया बगावती यूं हो गया कि उसने देखा कि महावीर जो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान ये तो मैं ही कह सकता हूं कई दिन उनके साथ रहा सब समझ लिया उसने कहा कि ठीक ये बात है तो मैं ही कह सकता हूं तो वो भी कहने लगा उसने उसमें और जोड़ ली बातें वो कहने लगा तीन नर्क होते हैं और तीन स्वर्ग होते हैं अब करोगे क्या इसमें कोई झगड़ा तो नहीं है लोग उनसे पूछते कि महावीर तो कहते हैं एक ही तो उनको एक का ही पता है एक का बताते हैं आगे का उनको पता नहीं है संजय बेलठी पुत्र को पता चला वो भी एक ज्ञानी था कि ये गौशाला कहता तीन नर्क उसने कहा पागल अरे तीन से कहीं काम चला सात के बिना हो ही नहीं सकता सात नरक है सात स्वर्ग है और पूर्ण काश्यप एक और गुरु था उन दिनों का कहना चाहिए गुरु घंटाल आदमी प्यारा है मुझे पसंद है वो उसने कहा क्या लगा रखी बकवास छोटी मोटी अरे सात सौ नर्क होते और सात सौ स्वर्ग अब इसको अगर ब्रह्म ज्ञान कहते हो तो तुम्हारी मौज फिर तुम्हें जो दिल में आए छेड़ो अपनी अपनी मौज अपनी अपनी उड़ान जितनी जिसकी कल्पना हो उतने ओड़े चले जाओ मगर कोई देश न तो ब्रह्मज्ञानी है न रहा है न कभी हो सकता है ये अहंकार छोड़ो देश वगैरह से ब्रह्म ज्ञान का कोई संबंध नहीं ये सब अपने अहंकार को भरने के परोक्ष रास्ते अपनी आंखें ठीक करो देश के पास आंखें होती ही नहीं ठीक भी क्या करोगे अब कोई कहने लगे कि देश की आंखों पर चश्मे चढ़ा दें तो सबको ठीक दिखाई पड़ने लगेगा मगर देश की आंखें नहीं तो चश्मा कहां चढ़ाओगे देश की अंतर दृष्टि खोल दे मगर अंतरदृष्टि देश की है कहा देश कोई व्यक्ति तो नहीं आत्मा तो नहीं संज्ञा मात्र है थोथा शब्द मात्र है शब्दों से जरा सावधान रहो शब्दों में मत उलझ जाओ बुढ़ावे में मुल्ला नसरुद्दीन की आंखें कमजोर हो गई जब उसे हाथी तक चूहे के बराबर दिखाई देने लगे तो वो अपने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेने पहुंचा डॉक्टर ने आंखों की जांच की और एक काफी मोटे लेंसों वाला चश्मा नसरुद्दीन को पहना दिया मुल्ला खुशी खुशी बाहर आया घर लौटते समय रास्ते में बाजार पड़ा तो नसरुद्दीन ने सोचा आज मुझे नई ज्योति मिली है चलो इसी खुशी में बच्चों के लिए कुछ खिलौने ले चलू वो एक अंगूर की दुकान पर पहुंचा पूछने लगा क्यों भाईजान ये फुग्गे किस भाव दिए लोग कभी कभी अपनी आंख भी ठीक करते हैं तो जरूरत से ज्यादा ठीक कर लेते उनको हाथ चूहा दिखाई पड़ता है फिर चूहा हाथ ही दिखाई पड़ने लगता सम्यक दृष्टि इसलिए बुद्ध ने कहा सम दृष्टि होनी चाहिए धन की दृष्टि होनी चाहिए आदमी चाहता क्या है एक बात चाहता है कि किसी तरह अपने अहंकार को नए नए श्रृंगार दे दे नए नए आभूषण दे दे तो मेरा देश महान क्यों क्योंकि आप आत्मानंद ब्रह्मचारी इस देश में पैदा हुए महान ना होता तो आप यहां पैदा क्यों होते होना ही चाहिए महान जब आप तक ने पैदा होने के लिए इसको चुना तो ये महान होना ही चाहिए ये अहान कहने का परोक्ष ढंग है पेरिस विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का एक प्रधान अध्यापक था उसने एक दिन घोषणा की अपने विद्यार्थियों के सामने कि मैं इस पृथ्वी का सबसे महान व्यक्ति हूं विद्यार्थी भी चौंके एक तो दर्शन शास्त्र के प्रधान अध्यापक दर्शन शास्त्र की कौन कीमत करता विश्वविद्यालय में आखिरी दर्जे में दर्शन शास्त्र होता कौन पढ़ने जाता जिनको किन्हीं और विषयों में जगह नहीं मिलती पढ़ते भारत में तो आमतौर से लड़कियां पढ़ती क्योंकि विवाह ही करना है एम ए होकर और तो कुछ करना नहीं है तो ना क्यों उपद्रव में पढ़ना दर्शन शास्त्र ठीक और फिर ब्रह्म ज्ञान तो भारत के खून में ही है कोई दर्शन शास्त्र में पढ़ने जाता नहीं सैकड़ों विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के विभाग खाली पड़े हुए मगर इज्जत के लिए विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र का विभाग कायम रखते हैं क्योंकि उसको हटाने में भी बेजीती होती कि इसमें एक विभाग कम है और ये गरीब अध्यापक दर्शन शास्त्र का हाँ कोई गणित का अध्यापक कह कोई फिजिक्स का अध्यापक कहता किसी ने एटम बम बनाया होता और वो कहता ये इसने तो कुछ न बनाया न कभी कुछ मिठाया बस ऊंची ऊंची बातें करता रहा हवाई ये कह रहा मुझसे महान व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं एक विद्यार्थी ने कहा कि आप तो दर्शन के अध्यापक हैं क्या आप सिद्ध कर सकते हो उसने कहा कि बिना सिद्ध करे मैं कोई बात कहता ही नहीं तो सुनो उसने फौरन नक्शा निकाला दुनिया का बोर्ड पर टांगा और पूछा कि मैं तुमसे ये पूछता हूँ दुनिया में सबसे महान देश कौन है स्वभाव का विद्यार्थियों ने कहा कि फ्रांस और उसने पूछा मैं तुमसे ये पूछता हूं फ्रांस में सबसे बड़ा महानगर कौन सा उन्होंने कहा पेरिस और तब उसने पूछा इसमें सबसे महान और पवित्रतम स्थल कौन सा है उन्होंने कहा स्वभाव था जो सरस्वती का मंदिर है विश्वविद्यालय तब वो घबराए कि ये आदमी तो लिए जा रहा धीरे धीरे तब उनको कुछ थोड़ी सी शंका होनी शुरू हुई और तब उसने कहा कि ठीक और इस विश्वविद्यालय में सबसे श्रेष्ठ विषय कौन सा है अब फांसी लगी लड़कों की उन्होंने कहा कि अब लग गई फांसी क्योंकि हम सब दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हमको तो कहना ही पड़ेगा दर्शन शास्त्र तो उन्होंने कहा दर्शन शास्त्र उन्होंने कहा कि आपको सिद्ध करने को बचाओ मैं दर्शन शास्त्र का प्रधान अध्यापक मैं इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूं ये सिद्ध हो गया और क्या सिद्ध करने के लिए चाहिए भारत ब्रह्मज्ञानी यहां देवता पैदा होने को तरसते शक्कर मिलती नहीं देवता पैदा होने को तरसते तो उनसे कह देना देवताओं से कि शक्कर सांस लेते हैं घास लेने का तेल मिलता नहीं तो कह देना उनसे कि लेट के तेल के पीपे सांस लेते हैं तरसते हो वो तो ठीक है तरसते हो तो आओ भैया वैसे भीड़ भाड़ और थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाएगी मजे से आओ स्वागत अरे अतिथि तक को देवता कहते जब देवते अतिथि होना चाहे तब क्या करें मगर कुछ चीजें लेते आना रहने के लिए थोड़ी जगह ले आना मकान ले आना सामान ले आना कुछ फर्नीचर ले आना देवता तरसते ही यहां पैदा होने को किस कारण तरसते होंगे या तो पागल हो गए या सोमरस ज्यादा पी गए बात क्या है भांग चढ़ा गए भारत में पैदा होने को तरसते कोई और जगह नहीं मिलती तरसने को पैदा होने को मगर भारतीय मन को भारतीय अहंकार को तृप्ति मिलती यहाँ देवता पैदा होने को तरसते ये पुण्य भूमि है ये ब्रह्मगानियों तुम्ही ब्रह्मज्ञानी हो जाओ यही पर्याप्त है इन व्यर्थ की बातों में समय ना गमाओ मुल्ला नसुद्दीन को चार महीने से कान में भयानक दर्द था वह कान के विशेषज्ञ के पास पहुंचा विशेषज्ञ ने एक बार की कान के भीतर झांका और आधे मिनट के अंदर ही चिमटी से पकड़ के एक रुपए का सिक्का बाहर निकाल कर मुल्ला की हथेली पर रखते का देखो यह है सारी समस्या की जड़ नसरुद्दीन ने राहत की सांसें लेते हुए कहा मेरे तो इसने इसने प्राण ही ले लिए थे डॉक्टर साहब आज पूरे चार महीने हो गए न ठीक से सोया हूं न कुछ ठीक से खा तड़कता था और मैं मछली की तरह तड़फता था आपने बड़ी कृपा की मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा डॉक्टर बोला लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुमने पहले आने की कोशिश क्यों नहीं की चार महीनों से इस नर्क की पीड़ा को बेवजह क्यों झेल रहे थे कभी भी आ जाते अरे आधा मिनट का ही तो काम था बस इस सिक्के को बाहर निकालना था दरअसल बात यह है डॉक्टर साहब नसरुद्दीन ने जवाब दिया कि आज तक मुझे इस सिक्के की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आत्मानंद ब्रह्मचारी तुम्हें ब्रह्मज्ञान की आवश्यकता है या नहीं तुम्हें आवश्यकता हो अगर आ गई हो आवश्यकता तो इस व्यर्थ के जाल में मत पड़ो व्यर्थ की बातों में मत पड़ो तो अपने भीतर उतरो खोदो वहीं पड़ा है हीरा हीरों की खदान वही है फिर तुम भारतीय हो कि जापानी कि चीनी कि अफगानी कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रत्येक के भीतर परमात्मा विराजमान है और प्रत्येक के भीतर ये क्षमता है कि वो स्वयं को खोज ले स्वयं से परिचित हो जाए मगर हमें ब्रह्म ज्ञान से तो जरूरत ही तो और ही दूसरी बकवास में लगे रहना है भारत ब्रह्मज्ञानी है या नहीं हो भी तो तुम क्या करोगे हो भी तो तुम ब्रह्मज्ञानी ना हो जाओगे तुम्हें होना पड़ेगा इसलिए मुद्दे की बात करो जड़ की बात करो मूल समस्या को पकड़ो और समस्या सीधी साफ है अपनी चेतना में उतरना है अपने साक्षी भाव को जागृत करना है आत्मानंद ब्रह्मचारी जागो काफी सो लिए भोर हो गई है आज इतना है